परम पिता परमात्मा का स्मरण प्रणव ध्वनि ओ सज्जन प्रेमी सज्जनों परमात्मा की स्तुति विभिन्न प्रकार से हम अपनी भावनाओं के अनुरूप करते रहते हैं परमात्मा के बारे में जितना हम जानते हैं उसके अनुरूप परमात्मा की स्तुति करते हैं वेद मंत्रों में परमात्मा के विभिन्न गुणों को बताया गया है और ये इसलिए बताया गया कि हम परमात्मा के विभिन्न गुणों को जाने और उसकी स्तुति करें परमात्मा के प्रति वो भाव बना के रखें जैसा परमात्मा है परमात्मा को हम यथार्थ स्वरूप में समझ सकें यथार्थ रूप में स्वीकार कर सके आज का मंत्र यजुर्वेद का पांचवें अध्याय का बत्तीसवां मंत्र है और महर्षि दयानंद ने इसे आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश में सत्रहवें क्रम पर दिया है मंत्र में परमात्मा को विभिन्न गुणों से युक्त कहा एक भक्त एक आर्य एक श्रेष्ठ मनुष्य परमात्मा को संबोधित कर रहा है परमात्मा को कह रहा है हे परमात्मा आप इन इन गुणों से युक्त हो प्रथम अंश है उशिकसी कवि ही हे परमात्मा आप उशिक हो और कवि हो ओशिक का मतलब है जो कामना करने योग्य है जो कांति वाला है वश धातु से ये शब्द बनाया गया है वश कांतो और जो कांतिमान होता है चमकदार होता है आकर्षित करने वाला होता है वो कमनीय होता है हम उसकी कामना करते हैं उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा को कह रहे हैं उशिक असी और साथ में कहा कवि ही आप क्रांत दृष्टा है अत्यंत विद्वान है और महर्षि ने परमात्मा की कमनीयता को उनके विद्वत्ता के साथ जोड़ा है वो कहते हैं हे सर्वप्रिय परमात्मा सबका प्रिय है जो जो भी परमात्मा को जानता है परमात्मा उसके लिए प्रिय होगा ही और जो परमात्मा को नहीं जानते हैं उनका तो वो प्रिय कहां से होगा लेकिन समय समय पर संसार की विभिन्न परिस्थितियों में हर मनुष्य कभी परमात्मा को स्वीकारता है जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं जहां परमात्मा की सत्ता को व्यक्ति स्वीकारने लगता है तो परमात्मा सबका प्रिय है जो परमात्मा को जानते हैं उनके लिए तो प्रिय है ही और जो परमात्मा को नहीं जानते वो भी व्यवहार में परमात्मा के नियमों का पालन करते हुए प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए उनको अपने लिए हितकर समझते हैं और उनका पालन करते हैं इस दृष्टि से भी वो सर्वप्रिय है आप उशिक कमनीय स्वरूप अर्थात सब लोग जिसको चाहते हैं और क्यों चाहते हैं उसके लिए यहां पर मुख्य कारण बताया क्योंकि आप कभी पूर्ण विद्वान हो परमात्मा की विद्वत्ता परमात्मा के प्रति आकर्षण का एक मुख्य कारण है हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर किसी को कमनीय या चाहने योग्य समझता है जो व्यक्ति जिस स्तर पर जी रहा होता है जिसकी उसको कामना होती है वो जिनमें मिलता है जिनसे प्राप्त हो सकता है वे वे उसे कमनीय लगते हैं कामना करने योग्य लगते हैं यहां परमात्मा की कमनीयता ज्ञान के कारण से क्योंकि वो पूर्ण विद्वान है किसी व्यक्ति के विभिन्न गुणों को विभिन्न संपदाओं को हम देखते हैं जानते हैं तो जो गुण संपदा उसकी अपनी निकट की होती है उसके प्रति हम अधिक आकर्षित होते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत सी भूमि का स्वामी हो तो ये भूमि उसके बाहर की चीज है दूर की और दूसरी तरफ वो व्यक्ति स्वयं अपने आप में बुरा हो तो दोनों में अगर हम तुलना करेंगे तो व्यक्ति हमें प्रिय नहीं लगेगा और इसके विपरीत यदि किसी की भूमि ठीक ना हो कम हो लेकिन वो व्यक्ति बहुत अच्छा हो तो वो व्यक्ति हमें प्रिय लगता है तो बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा निकट की जो वस्तु होती है उससे हम अधिक प्रभावित होते हैं उस व्यक्ति को हम अधिक प्रिय समझते हैं जैसे कि किसी वस्तु का आवरण यानी पैकिंग बहुत अच्छी हो और अंदर से ठीक नहीं हो वो वस्तु खाद्य पदार्थ ठीक नहीं हो तो हम उसकी ओर अधिक आकर्षित नहीं होंगे या आकर्षित नहीं होंगे दूसरी वस्तु जिसका आवरण यानी पैकिंग अच्छी ना हो लेकिन अंदर से वस्तु अच्छी हो तो हम उसकी तरफ आकर्षित होंगे वो हमारे लिए प्रिय होगा क्योंकि आवरण हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं होता है इसी प्रकार से जब हम शरीर को देखेंगे तो शरीर भी आंतरिक दृष्टि से बाहर है जैसे भूमि बाहर की वस्तु थी तो किसी का शारीरिक रूप अच्छा हो लेकिन मन अच्छा ना हो स्वभाव अच्छा ना हो तो हम उसको प्रिय नहीं समझते हैं इसके विपरीत शारीरिक रूप अच्छा ना हो कुरूप हो लेकिन अंदर से अच्छा हो स्वभाव अच्छा हो तो हम उसको प्रिय समझते हैं इसी प्रकार अंदर के गुणों में भी देखेंगे तो ज्ञान गुण परमात्मा का अपना गुण है परमात्मा का ऐश्वर्य ये सारी प्रकृति भी है परमात्मा ने विभिन्न लोक लोकांतर बनाए हैं इतना सौंदर्य इस प्रकृति में दिया है विभिन्न साधन उपलब्ध कराए हैं इनसे भी परमात्मा प्रिय बनता है इनके कारण भी परमात्मा हमें प्रिय लगता है लेकिन सबको प्रिय इससे नहीं लग सकता और इन बाह्य साधनों के देने से जो परमात्मा की प्रियता होती है वो कम स्तर की होती है लेकिन ज्ञान के देने पर ये प्रियता सबसे अधिक होती है और सबसे अधिक होनी चाहिए यदि हम परमात्मा की दी हुई स्थूल बातों को लेकर के देख करके परमात्मा को प्रिय समझते हैं कमनीय समझते हैं तो ये भी एक स्तर है लेकिन निचला स्तर है ये भी अच्छा है लेकिन निचला है यदि हम परमात्मा के ज्ञान से प्रभावित होते हैं और उससे ज्ञान मांगते हैं परमात्मा हमें सर्वप्रिय इसलिए लगता है सर्वाधिक प्रिय इसलिए लगता है कि वो ज्ञानवान है शुद्ध ज्ञान वाला है ये भी एक स्तर है और ये ऊंचा स्तर है परमात्मा को हम प्रिय मानते हैं क्या गुण देख करके उससे क्या मिलने वाला है ये देख करके तो आर्य परमात्मा के द्वारा दी हुई हर वस्तुओं को देख करके परमात्मा को प्रिय मानता है लेकिन उसके ज्ञान को कवित्व को देख करके उसे सर्वाधिक प्रिय समझता है हमें परमात्मा को इस रूप में सर्वाधिक प्रिय समझना चाहिए तो परमात्मा उशिक रसी उशिक रसी कवि ही वो कमनीय है क्योंकि वो कवि है क्योंकि वो ज्ञान वाला है आगे कहा अंघारी रसी बंभारी अंघारी आप अघ को पाप को नष्ट करने वाले हैं अघ उसे कहते हैं जो हमारा नाश करता है हमारी हिंसा करता है तो जो जो चीज हमारी हिंसा करती है हमारी हानि करती है परमात्मा उसको भी हटाने वाला है और ऐसा करता हुआ परमात्मा बंभारी हसी बंभारी का एक अर्थ होता है भ यहां पर ध के स्थान पर आया है बंधारी रसी आप बंधन का नाश करने वाले हैं आप पाप का नाश करके हमारे बंधनों का नाश कर देते हैं क्योंकि जब तक पाप है दोष है तो बंधन भी रहेगा आप हमारे पापों का नाश कर देते हैं और इस प्रकार हमारे बंधन भी हटा देते हैं परमात्मा जो ज्ञान देता है उससे हमारे अंदर की पाप भावना गलत कर्म करने की प्रवृत्ति कुसंस्कार समाप्त होते हैं इस रूप में वो हमारे पापों को नष्ट कर देता है और इस तरह ही वो हमें बंधनों से भी मुक्त कर देता है मुक्ति को देने वाला बनता है और सीधे सीधे यदि हम पाप का अर्थ लें जैसा कि स्वामी जी ने यहां वाक्य लिखे हैं आप अंगारी हो अर्थात स्वभक्तों का जो अघ उसके अरि शत्रु हो भावी पाप को तो नष्ट करेगा ही वो और जो पहले के पाप हैं यदि कोई भक्त जो ईश्वर का भक्त है स्वभक्तों को लिखा है ये पाप सबके नाश नहीं करता है वो स्वभक्तों के नाश करता है तो जो मुक्ति में जाने वाली आत्मा है उसके भी उन दोषों को उन पापों को वो समाप्त कर देता है क्योंकि वो मुक्ति के योग्य बन गया है इस दृष्टि से और परमात्मा बंभारी रसी इसका अर्थ महर्षि ने लिखा स्वभक्तों और सब जगत के पालन तथा धारण करने वाले हो यहां परमात्मा का पालन और धारण धर्म किन के लिए कहा स्वभक्तों और सब जगत के बाकी सबके भी जो स्वभक्त नहीं है उनका भी पालन और धारण परमात्मा करता है लेकिन स्वभक्तों का विशेष पालन और धारण करता है लेकिन पाप के नाश के संदर्भ में महर्षि ने क्या लिखा केवल स्वभक्तों का लिखा है आगे कहा अवस्यु रसी दुवस्वान अवस्यु का मतलब होता है महर्षि ने वेद भाष्य में लिखा कि जो चंद तार आदि के तार आदि के तंतुओं को जोड़ने वाला है शिवु तंतु संताने धातु से अवपूर्वक यहां पर शब्द बनाया गया तंतु संतान का मतलब होता है जैसे सिलाई करने वाला सीता है वो तंतुओं का धागों का संतान करता है उनको विशेष प्रकार से व्यवस्थित करता है एक दूसरे से जोड़ता है उनका विस्तार करता है वो भी ले सकते हैं तो महर्षि ने लिखा जो तारों का तंतु संतान करने वाला है ये जो तारे हैं एक तो तार होते हैं ये धागे वाले और एक ये जो तारे हमें दिखाई देते हैं आकाश में सितारे उनका संतान विस्तार करने वाला उनका संबंध जोड़ने वाला जैसे सिलाई करने वाला जुलाहा तंतुओं को ऐसे जोड़ता है कि वो आपस में संबद्ध हो जाते हैं अलग अलग धागे थे उनको आपस में जोड़ दिया संबद्ध कर दिया एक ढांचा बन गया एक वस्त्र बन गया इसी तरह ये जो संसार है इसमें विभिन्न तारे हैं लोक लोकांतर हैं ये स्वतंत्र भी हैं लेकिन इनको इस ढंग से परमात्मा ने जोड़ दिया है ये एक पूरी संरचना बन गए हैं आपस में संबद्ध हो गए हैं तो परमात्मा ऐसा है इसके लिए यहां महर्षि अर्थ लिखते हैं अन्नादि पदार्थ अपने भक्तों धर्मात्माओं को देने की इच्छा सदा करते हो तो दुबस्वान जो भी शब्द लिखा है दुबस्थिति को निगंटु में परिचरण कर्मा कहा है हम दूसरे का परिचरण करते हैं परिचर्या करते हैं सेवा करते हैं देखभाल करते हैं तो दुबस्यु रसी परमात्मा हमारी देखभाल करने वाला है वो हमारा ध्यान रखता है ये मेरा भक्त ये धर्मात्मा व्यक्ति किस स्थिति में है उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो देखता है उसके साथ अन्याय होता हो तो उसका भी प्रयास करेगा उसके पास कमी है तो उसे भी दूर करने के लिए व्यवस्था परमात्मा करेगा उसका व्यवस्था करने का तरीका अलग है लेकिन वो अपने भक्तों का और धर्मात्माओं का ध्यान रखता है उनकी परिचर्या करता है उनकी देखभाल करता है अवस्यु रसी दुबस्वान और दुबस्यति का परिचरण कर्मा की दृष्टि से महर्षि ने अर्थ किया तथा आप परिचरणीय हो तथा विद्वानों से सेवनीय तम हो विद्वान जिनकी सेवा करते हैं जिनको धारण करते हैं उनमें आप सर्वश्रेष्ठ हो विद्वान लोग आपकी परिचर्या करते हैं सदा आपकी सेवा करते हैं आपको सेवन करना चाहते हैं तो आप विद्वानों से सेवनीयतम हो विद्वानों से भिन्न व्यक्ति की दृष्टि में परमात्मा सेवनीय होते हुए भी प्रिय होते हुए भी सेवनीयतम नहीं होता है वो परमात्मा को किस लिए चाहता है ताकि परमात्मा से हमें धन संपत्ति मिले भौतिक सुविधाएं मिले इसलिए वो परमात्मा को चाहता है लेकिन विद्वान परमात्मा को स्वयं को भी चाहता है और परमात्मा को स्वयं को प्राप्त करना उसका मुख्य लक्ष्य होता है बाकी वस्तुएं परमात्मा से वो परमात्मा को पाने के लिए चाहता है आगे कहा शुंध्युरसी मार्जा ली आप शोधन करने वाले हो शुद्ध करने वाले हो तो स्वयं शुद्ध स्वरूप हो और सबको शुद्ध करने वाले हो वैसे लिखते हैं शुद्ध स्वरूप और सब जगत के शोधक तथा पापों का मार्जन निवारण करने वाले आप ही हो अन्य कोई नहीं जितना शुद्ध स्वरूप परमात्मा है उतना अन्य कोई नहीं हो सकता कितना भी श्रेष्ठ मनुष्य हो वो उतना शुद्ध नहीं हो सकता हमें जब शुद्धि की कामना करनी है तो शुद्ध स्वरूप लक्ष्य के रूप में हमारे मन में परमात्मा का होना चाहिए परमात्मा आप शुद्ध स्वरूप हो और सब जगत के शोधक हो परमात्मा हमारी शुद्धि तो करता ही है आंतरिक रूप से ज्ञान दे के बाकी परमात्मा इस सारे संसार की शुद्धि करता ही रहता है उसने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि संसार में शुद्धि सतत होती रहती है सबसे बड़ा शोधक हमारे बीच में सूर्य है सूर्य का प्रकाश उसकी किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो गंदगी को शुद्धि करती है दुर्गंध को हटाती है मलिनता को हटाती है हानिकारक कीटों को हटाती है सतत शोधन कर चल रहा है यदि सूर्य नहीं उगे वृष्टि हो रही हो नमी हो तो कुछ दिनों के अंदर सब जगह दुर्गंध बढ़ने लगती है कपड़ों में दुर्गंध भोजन जल्दी खराब कचरा कूड़ा सड़ने लगेगा और यदि बादल हट जाते हैं सूर्य निकल के आता है तो शुद्ध होता है ये अग्नि का स्वरूप है ये शुद्ध करता है तो परमात्मा सूर्य के माध्यम से सतत हमारा शोधन कर रहा है रोगों से हमें हटा रहा है रोगों से हमें बचा रहा है परमात्मा वायु को चला के सतत शोधन कर रहा है यदि जहां हम रहते हैं वो वायु वहीं पर ही रहे वायु ना चले तो शुद्धि नहीं रह सकती उसने व्यवस्था ऐसी की है कि वायु भी चलती रहती है और वो हमारा सतत शोधन करती रहती है गंदगी को हमारे पास से दूर ले जाती है शुद्ध करती रहती है परमात्मा ने जल दिया है जो कि बहुत बड़ा शोधक है जल के अभाव में हम अपनी शुद्धि कैसे करें कैसे स्नान करें अन्य शुद्धियां कैसे करें वस्त्र की शुद्धि स्थान की शुद्धि शरीर की शुद्धि ये जल के माध्यम से परमात्मा ने जल को ऐसा बना के दिया है कि वो हमारा शोधन करता है शोधन कर सकता है तो परमात्मा सब तरह से हमारे शोधन करने में लगा है समुद्र में गति होती है ज्वार भाटा आता है पानी इधर से उधर कितना होता है शोधन हो रहा है हम खाना खाते हैं कोई चीज गिर जाती है खाने पीने की तो चिटियां तत्काल आ जाती हैं आके उसको उठा के ले जाती हैं शुद्धि चल रही है हम मलमूत्र का त्याग करते हैं वो शुद्ध हो जाता है हमारा शरीर मलिन है गंदा है मरने के बाद में दुर्गंध आती है जीव जंतु ऐसे बना रखे हैं कि वो आके उसको खा जाते हैं समाप्त कर जाते हैं चट कर जाते हैं पशु पक्षी जो मरते हैं जंगल में और कहीं पहले बड़े बड़े जानवर उसका मांस खा जाते हैं फिर छोटे जानवर उसका छोटा थोड़ा थोड़ा मांस खा जाते हैं हड्डियों से जो जुड़ा हुआ है फिर भी जो हड्डियों के चिपका हुआ है तो चीटियां आ जाती हैं फिर वो आकर के एक एक अंश मांस का चट कर जाती है बिल्कुल सूखा हड्डी बच जाती है और यदि कोई बाहर के नहीं आते हैं तो जीव सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं कि उसको गला देते हैं समाप्त कर देते हैं मल मूत्र कुछ भी गंदगी हो जो भी हानिकारक चीज हो उसका शोधन सतत परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है मकड़ियां बना रखी है छिपकलियां बना रखी है मच्छर हैं और हैं इनके नाश के लिए मेंढक बना रखे हैं परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है कि शुद्धि का कार्य सतत चलता रहता है उसने व्यवस्था ऐसी बना रखी है हमारे शरीर की व्यवस्था भी ऐसी है कि इसमें सतत शुद्धि चलती रहती है मल बाहर निकलता रहता है शोधन की बहुत अच्छी व्यवस्था यहां बनाई हुई है सब तरह से शोधन होता रहता है तो परमात्मा शुद्धुरसी शुद्ध स्वरूप है और शुद्ध करने के लिए उसने व्यवस्था भी बना रखी है वो मार्जा लिए है मार्जन करता रहता है आगे कहा सम्राट असी कृषाणु ये परमात्मा आप सम्राट हैं सम्यक रूप से दीप्त हैं प्रकाशित हैं एक राजा की तरह बहुत बड़े राजा की तरह से विभिन्न ऐश्वर्यों से युक्त हो लेकिन इसके साथ साथ आप कृषाणु भी हो जो कृष हैं कमजोर हैं दुर्बल हैं दीन हैं उनकी आप रक्षा करते हो आप ऐसे सम्राट नहीं हो जो दीन दुखियों को दुर्बलों को कुछ नहीं देता उनका ध्यान नहीं रखता आप ऐसे सम्राट हो कि दीन दुखियों की सतत रक्षा करते हो महर्षि लिखते हैं सब राजाओं के महाराज तथा कृष्ण दीन जनों के प्राण के सुखदाता आप ही हो दुनिया दुर्बलों को उपेक्षित कर देती है कर सकती है लेकिन परमात्मा दुर्बलों को निर्धनों को उपेक्षित नहीं करता उनकी रक्षा भी परमात्मा करता है आगे कहा परिषद्योरसी रसी सी पवमान आप परिशत्य हो परिषद के योग्य हो परिषद का मतलब सभा आप उस सभा के योग्य हो महर्षि इसके लिए कई शब्द लिखते हैं हे न्यायकारीन जो सभा में जाता है तो न्याय करना ही पड़ता है व्यक्ति को अकेले में व्यक्ति अन्याय कर देता है लेकिन सभा में सबके सामने बैठा है तो न्याय की बात उसको दबाव से भी करनी ही होती है परिषद एक ऐसी जगह है जहां सबके सामने व्यक्ति अपने को सर्वोत्कृष्ट रूप से प्रस्तुत करता है वो सावधान रहता है उसका उठना बैठना बोलना ज्ञान का स्तर वो सब उच्च स्तर पे होता है तो और सबका ऐसा ही होता है इसलिए सब बड़े सावधान रहते हैं तो उस सभा में परमात्मा सबसे हितकर है सबसे श्रेष्ठ रहता है उसका कोई स्तर नीचा नहीं जाता है तो हे न्यायकारिन पवित्र परमेश्वर सभा के आज्ञापक आप हो आज्ञा देने वाले हो सभ्य हो सभा के योग्य हो सभापति हो सभा प्रिय हो और सभा रक्षक हो आप सभा की पालना करते हो सभा के लिए निर्देश भी देते हो लेकिन सभा सद सभा को प्रिय भी समझते क्योंकि आप न्यायकारी हो और सभा के आप रक्षक हो और इसलिए आगे कहा परिशब्द रसी पवमान इसलिए आप हमको पवित्र भी करने वाले हो पवित्र स्वरूप पवित्र कारक सभा ही पवित्र कारक सभा से ही सुखदायक पवित्र प्रिय आप ही हो एक एक व्यक्ति जब व्यवस्था करता है तो वहां दोष की संभावनाएं अधिक होती है लेकिन जब सभा के माध्यम से होता है तो वहां पवित्रता की स्थिति अधिक बनती है तो परमात्मा सभा से युक्त होकर के सारे कार्य करता है ऐसा ही उसने हम सबके लिए निर्देश भी किया है आगे कहा नभोसी पृथकवा नभ का मतलब आकाश होता है आकाश के समान परमात्मा निर्विकार है ये जो अंतरिक्ष है ऊपर खाली स्थान है नभ है उसमें मलिनताएं नहीं है मलिनताएं नीचे की तरफ है तो ऐसे ही परमात्मा व्यापक है क्षोभ रहित है और अति सूक्ष्म है इसलिए परमात्मा को नभ कहा और इसलिए वो निर्विकार है प्रतकवा प्रकर्ष रूप से परमात्मा हर्ष को प्राप्त करता है हर्ष की स्थिति में रहता है तक जो धातु है वो हसने हसन अर्थ में है हसने अर्थ में है प्रतक्वा परमात्मा हंसता है हंसता है अर्थात हर्षित होता है प्रकर्ष रूप से जो हर्षित है ऐसा वो परमात्मा है परमात्मा कभी निराश उदास नहीं होता वो सदा हर्षित है अपने आप में सदा प्रसन्न है क्योंकि वो क्षोभ रहित है निर्विकार है नभोसी प्रतक्वा महर्षि ने इसका अर्थ किया परमात्मा हर्षित भी क्यों है उसके कारण के रूप में लिखा सबके ज्ञाता सत्यासत्यकारी जनों के कर्मों को साक्ष्य रखने वाले कि सबको जानता है और सत्य असत्य जो भी करने वाले हैं उनका साक्ष्य रखता है और क्यों साक्ष्य रखता है कि जिसने जैसा पाप व पुण्य किया हो उसको वैसा ही फल मिले अन्य का पुण्य व पाप अन्य को कभी ना मिले जिसने जैसा किया है उसको वैसा मिलेगा और एक का पाप एक का पुण्य दूसरे को कभी न मिले परमात्मा ये व्यवस्था करता है लोक में मनुष्य इस तरह से कर देते हैं अपना पाप अपना दोष दूसरों पर लगा देते हैं दूसरे को दुख झेलने के लिए विवश कर देते हैं अपनी जगह दूसरे को दुख की स्थिति में डाल देते हैं लेकिन इस अन्याय का भी परमात्मा उचित न्याय करता है इसलिए ये व्यवस्था है परमात्मा की कि किसी का भी पाप या पुण्य दूसरे को नहीं जाता अनेक बार हम अन्य वस्तुओं के व्यवहार में भी ये समझते हैं कि दूसरे का पाप या पुण्य हमारे को मिल गया किसी का अन्न हमने खाया किसी की वस्तु हमने ली वो यदि पाप कर्म करता है तो हम ये सोच लेते हैं कि उसका पाप हमारे पास आ गया है दूसरे का पाप कभी भी हमारे पास में नहीं आता है और दूसरे का पुण्य भी हमारे पास नहीं आता है अनेक बार हम सोचते हैं कि हम पुण्यात्मा के यहां से ये धन लेंगे भोजन लेंगे ये सोच के कि इससे मेरे को भी पुण्य मिलेगा ये आवश्यक नहीं परमात्मा की दृष्टि से जिसने पाप किया है पाप का भागी वही होगा जिसने पुण्य किया है उसका भागी वही होगा हमारा लेन देन का व्यवहार यदि अनुचित है तो हम नए पाप के भागी बनेंगे हमारा लेन देन का व्यवहार यदि उचित है तो हम नए पुण्य के भागी बनेंगे लेकिन देने वाले के पाप और पुण्य के भागी हम कभी नहीं बन सकते परमात्मा की व्यवस्था है वो उन्हीं को मिलेगा तो अन्य का पाप व पुण्य अन्य को कभी ना मिले परमात्मा ऐसा ही है आगे कहा मृष्टो सी हव्य सूदन मृष्ट शब्द मृजु शुद्ध धातु से बना परमात्मा शुद्ध स्वरूप है और सब पापों के मार्जक हो आप शोधन करने वाले हो ये मृष्ट का अर्थ किया फिर हव्य सूतन हव्य जो खाद्य सामग्री होती है अच्छी देने योग्य वस्तु होती है श्रेष्ठ वस्तु होती है उसको आप सूदन अलग अलग करने वाले हो भिन्न भिन्न करने वाले हो ये अच्छी चीज यहां के लिए है ये अच्छी चीज वहां के लिए है और महर्षि ने इसको यज्ञ से जोड़ते हुए लिखा मिष्ट सुगंध रोगनाशक पुष्टिकारक इन द्रव्यों से वायु वृष्टि की शुद्धि करने वाले करने कराने वाले आप हो हव्य सूतना हमने हव्य को अग्नि में दिया लेकिन आगे का कार्य कौन करता है आगे की व्यवस्था किसकी है वो परमात्मा की है कि इससे वायु जल आदि शुद्ध होते हैं पवित्र होते हैं आगे कहा ऋतधामासी स्वर ज्योति ही आप रित के धाम हैं सत्य के धाम हैं आप सत्य स्वरूप हैं यथार्थ स्वरूप हैं और इसलिए आगे कहा स्वर ज्योति आप अपने आप में ज्योति स्वरूप है प्रकाश स्वरूप है परमात्मा के लिए महर्षि लिखते हैं कि आप यथार्थ सत्य व्यवहार में ही निवास करते हो मिथ्या में नहीं परमात्मा का जितना भी व्यवहार है वो सत्य सत्य ही है और जो सत्य व्यवहार करता है उसी में परमात्मा का निवास होता है परमात्मा अपनी अधिक कृपा उस व्यक्ति को करता है स्व आप सुख स्वरूप और सुख कारक हो तथा ज्योति स्वप्रकाश और सबके प्रकाश प्रकाशक आप ही हो तो परमात्मा के विभिन्न गुणों को इस मंत्र में बताया गया परमात्मा के प्रति जब हम स्तुति का भाव रखते हैं उसके प्रति भाव उभारना चाहते हैं तो हम इन विभिन्न गुणों को अपने मन में रख करके उसकी स्तुति कर सकते हैं उसके प्रति भाव पैदा कर सकते हैं बना सकते हैं इसका एक स्वरूप बहुत विस्तार से इस मंत्र में भी दिया और भी इस प्रकार के मंत्रों में परमात्मा के विभिन्न स्वरूप बताए जाते हैं और हमारी अलग अलग स्थितियों में हम परमात्मा के अलग अलग गुणों को अधिक प्रिय समझते हैं उसके प्रति अधिक आकर्षित होते हैं तो जब भी हमारी जो स्थिति हो उसके अनुरूप जो भी गुण हमें परमात्मा का स्मरण में आता है अधिक प्रिय लगता है उसको मन में रखते हुए परमात्मा की हम स्तुति करते रहें परमात्मा के प्रति अपनी भावना को बनाए रखें शक्ति पाठ